नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 8 अगस्त 2011 ये बहुत छोटा वीडियो है इस मुद्दे पे काफी मेरे एक्टिविस्ट फेसबुक पर राइट टू रिकॉल ग्रुप के और ईमेल से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफी रिक्वेस्ट की और क्वेश्चन भी पूछा कि भाई मैं स्वामी रामदेव जी से मिलके राइट टू रिकॉल वगैरह के बारे में बात क्यों नहीं करता तो इसका मैंने सोचा मैं जवाब दे देता हूँ वीडियो पे देखो दो तीन बातें हैं कि जिन लोगों ने ये मेरा रेफरेंस मटेरियल पढ़ा rahulmehta.com/301.htm या जिन्होंने राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट लिया उनकी नज़र में मैं मेरा काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट है मेरा स्थान है लेकिन एक दूसरी भी रियलिटी है कि जो रियल पॉलिटिक्स है बाहर के पॉलिटिक्स में उसमें मेरा इन्फ्लुएंस जीरो के बराबर है मैं एक इलेक्शन लड़ा 7300 वोट मिले ठीक ठाक परफॉर्मेंस था as an independent one percent vote पर अहमदाबाद के अंदर समझे कि मैं कॉरपोरेटर से आधा जहां तक पब्लिसिटी का सवाल है जिन्होंने राइट टू रिकॉल में जो ये करप्शन के मुद्दे में डिटेल में इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग मेरे बारे में काफी अच्छी तरह जानते हैं पर बाकी जनरल पब्लिक में क्यों मेरा नाम कम है क्योंकि मीडिया राइट टू रिकॉल के खिलाफ है जैसे आपको सबको पता है paid media right to recall के कवरेज में नहीं देना चाहता तो जहां तक पब्लिसाइजिंग नाम का सवाल है मेरा नाम कोई कॉरपोरेटर से बड़ा नाम नहीं है और जहां पावर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आता है तो एक आम सिटीजन की तरह मेरा जीरो से कोई ज्यादा स्थान नहीं है अब जब स्वामी जी अहमदाबाद आते हैं तो सिर्फ दो तीन दिन के लिए आते हैं और उसमें मिनिस्टर एमपी लेवल के लोग उनसे मिलना चाहते हैं और इतने सारे लोग मिलना चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट देने से मना करना पड़ता है मैं खुद उसका विटनेस रह चुका हूं मैं नाम अभी नहीं दूंगा पर एक मिनिस्टर लेवल के नेता थे जो कि स्वामी जी को सिर्फ पांच मिनट मिलना चाहते थे उनको अपॉइंटमेंट देने से मना करना पड़ा क्योंकि इतने सारे लोगों को एक आदमी तो टाइम दे ही नहीं सकता और दूसरा जो आ, लोकल बीएसटी लीडर है जिनको मैंने कहा कि भाई स्वामी जी से मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए तो उनका right to recall में interest थोड़ा कम है आ, देखो right to recall ऐसी बात है कि जो middle और top level होता है उसको अच्छा नहीं लगता भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एकमात्र संगठन है जिसमें टॉप के दोनों व्यक्ति राजीव दीक्षित जी राजीव दीक्षित जी और स्वामी रामदेव जी ने उसको सपोर्ट किया बाकी कोई भी पार्टी देख लो फिर वो बीजेपी हो कांग्रेस हो वहां का जो टॉप है और मिडल है वो राइट टू रिकॉल के खिलाफ है और इसी तरह से बीजेपी में भी यही है सॉरी तो BST में भी काफी ऑफिस बीयरर है वो right to recall को इतना सपोर्ट नहीं करते इसलिए फिर वहाँ अपॉइंटमेंट तो एंड में उनके थ्रू लेनी पड़ती है मेरा कोई इतना बड़ा तो नाम है नहीं कि सामने से बुलावा है तो इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सब कार्यकर्ताओं की जो मैं 1998 से कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ 1998 से मैंने सब कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप इस बात को जितना हो सके आपके अन्य कार्यकर्ताओं से ऑफिस बीआरआर से पदाधिकारियों से बात करो कि वो इसका सपोर्ट करें तभी ये बात आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से आधा घंटा मिल लूँ या आ, देश के सारे बड़े नेताओं से एक एक आधा घंटा मिल लूँ और इससे राइट टू रिकॉल का कानून पास होगा कानून तो अंत में जन आंदोलन से ही पास होने वाला है तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी ऑफिस बियरर पदाधिकारी आपके संपर्क में हैं, आपकी जान पहचान में हैं, उनमें आप राइट टू रिकॉल का प्रचार कीजिए, उनको राइट टू रिकॉल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और उनसे कहिए कि वो राइट टू रिकॉल को समर्थन दे वो राइट टू रिकॉल की बात आगे बढ़ाए और इस तरह से राइट टू रिकॉल की आगे बात बढ़ सकती है और साथ में जब भी कार्यकर्ताओं को बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, आशीर्वाद लेने के लिए या तो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, तब आधा एक मिनट बात करने का समय मिल जाता है। तब वो right to recall के बारे में बात कर सकते हैं और इस तरह से right to recall की बात और आगे बढ़ेगी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए पर मुझे नहीं लगता कि नजीक के भविष्य में ये संभव है धन्यवाद